परम पिता परमात्मा का स्मरण सतत रक्षा करने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों जीवन में पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा से किस प्रकार की प्रार्थना आर्यों को श्रेष्ठों को करनी चाहिए उसका एक रूप एक निदर्शन आज के मंत्र में किया गया है मंत्र यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय का दूसरा मा, दूसरा है और इसे महर्षि दयानंद ने आर्य के द्वितीय प्रकाश में उनचालीसवें स्थान पर पढ़ा है मंत्र का देवता बृहस्पति है इन संपूर्ण बड़े बड़े लोकों का सबका स्वामी रक्षक जो परमात्मा है वो बृहस्पति इस मंत्र का देवता है मंत्र में बृहस्पति शब्द भी आया है और वो परमात्मा का वाचक है उस बृहस्पति से प्रार्थना की जा रही है कि बृहस्पति वो परमात्मा यन में छिद्रम चक्षुषा मे चक्षुष यित्रम मेरे नेत्र का जो छिद्र है मेरे नेत्र की जो न्यूनता है अल्प सामर्थ्य है रोग है अथवा उसकी गलत प्रवृत्ति है उसे और कहा हृदय से मनस अंतकरण की और मन की जो न्यूनता है उसे वा अतितृणम अथवा अन्य जो अतिहिंसित हानिकारक चीजें हैं जो अपमान है व्याकुलता है उस सब को धातु मेरे अंदर धारण करे पुष्णातु मेरे अंदर पूर्ति करे पोषण करे परमात्मा को सबसे बड़ा और महान मानते हुए महर्षि ने यहां पर संबोधन दिया हे सर्व संधायकेश्वर सबका संधान करने वाला वो परमात्मा है और ऐश्वर्य से युक्त है कमियों को दूर करने वालों में सबसे बड़ा परमात्मा है उसे संबोधित किया हे सर्वसंधाय केश्वर परमात्मा आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति इस प्रार्थना को कर रहा है हमारे को परमात्मा ने श्रेष्ठ नेत्र इंद्रियां अंतकरण प्रदान किए हैं और इनकी कोई हानि होती है उसको दूर करने की व्यवस्था भी स्वतः व्यवस्था भी परमात्मा ने बना रखी है और हमें पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रखा है कि हम इनकी रक्षा करें पालन करें और जो न्यूनता हो उसको दूर करें इतना सब होते हुए इतना सब जानते हुए भी मनुष्य को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि इतना सब करते हुए भी हमारे नेत्र आदि उपकरणों में अथवा मन हृदय आदि अंतकरणों में न्यूनताएं रहती हैं हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें फिर भी इनमें न्यूनता रहती है यदि व्यक्ति का लक्ष्य सांसारिक हो भौतिक हो भौतिक उन्नति हो तो भी उसे इनमें न्यूनता प्रतीत होगी जिनका उच्च लक्ष्य है जिनका भौतिक लक्ष्य भी उच्च नहीं है उन्हें इनमें न्यूनता की प्रतीति छिद्र की प्रतीति प्राय नहीं होगी रोग आदि आ जाते हैं वहां उन्हें न्यूनता दिखाई देगी मन की चंचलता मन का एकाग्र न होना मन का व्याकुल होना सामान्य रूप से चलता रहे तो भी एक कम लक्ष्य वाले को बाधक नहीं प्रतीत होता वो उसे सामान्य ही मानता है ऐसा तो चलता है लेकिन जिसने भौतिक लक्ष्य भी ऊंचा बनाया है वो चाहता है कि इसकी इन इंद्रियों की साधनों की न्यूनता दूर हो रोग भी दूर हो और न्यूनता भी दूर हो उसे इनमें न्यूनताएं दिखाई देती हैं इनका वो पूरा लाभ उठाना चाहता है जितना हो सकता है लाभ उठाता भी है लेकिन फिर भी उसे ये प्रतीत होता है कि ये थोड़ा सा ऐसा और हो जाए तो और प्रगति कर सकूंगा इसमें ये सामर्थ्य और आ जाए ये बल और आ जाए तो मैं और प्रगति कर सकूंगा इनमें न्यूनता वही व्यक्ति देखेगा इस स्तर की जो ऊंचे लक्ष्य को बना करके चल रहा है लेकिन ये आर्य जो इस प्रार्थना को कर रहा है उसका लक्ष्य लौकिक से ऊपर मुक्ति भी है और मुक्ति की दृष्टि से तो इन साधनों की श्रेष्ठता दोष रहितता बहुत आवश्यक है छोटा भी दोष ना रहे ये अपने पूर्ण सामर्थ्य से युक्त हो तो ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और यदि न्यूनता है तो मुक्ति के लक्ष्य वाला या उच्च लक्ष्य वाला ये भी समझता है कि इनसे भी मैं प्राप्त कर सकता हूं लक्ष्य को तो भी विलंब होगा ये तो उसे प्रतीत होता ही है यदि ये न्यून सामर्थ्य वाले रहे तो इन उच्च लक्ष्यों को पाने में समय लगेगा अधिक देर लगेगी वो उच्च लक्ष्यों को पाना चाहता है और शीघ्र पाना चाहते हैं इसलिए साधनों में न्यूनता उसे प्रतीत होगी ही और वो अपना पुरुषार्थ भी पूरा कर रहा है पुरुषार्थ पूरा करने के बाद भी अपने ज्ञान के अनुरूप करने के बाद भी उसे लगता है कि और सहायता अपेक्षित है मैं नहीं कर सकता इसको और अच्छा अन्य व्यक्ति भी इसको और अधिक श्रेष्ठ नहीं बना सकते ये न्यूनताएं हैं और ये न्यूनताएं मात्र ईश्वर दूर कर सकता है ईश्वर इनकी विशेष सामर्थ्य बढ़ा सकता है ईश्वर की सहायता उस आर्य को प्रतीत होती है और वो प्रार्थना कर रहा है कि हे बृहस्पति यन में छित्रम चक्षुष मेरे नेत्रों में जो दोष है हृदय से और मेरे अंतकरण में मन को छोड़ के जो अन्य अंतकरण है उनका ग्रहण करेंगे और मन में जो दोष हैं और अन्य भी जो हिंसित बातें हैं बीच बीच में मेरे को बाधाएं होती हैं बाधाएं आती हैं वे सब पूर्ण हो जाएं वे सब दोष मेरे पूर्ण हो जाएं समस्त बाधाएं मेरी दूर हो जाएं हमारी प्रार्थना से परमात्मा सहायता करता है वो तीन स्तरों पे देखी जा सकती है एक तो हम प्रार्थना करते हैं और हमारा वैसा कर्माशय भी है हमने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं और अब हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा हमारे कर्माशय के अनुरूप हमारी कामना के अनुरूप पूर्ति करेगा प्रार्थना करने के बाद परमात्मा देगा इस पर कुछ संशय या दोष लोग देखते हैं आपत्ति करते हैं यदि प्रार्थना से ही मिल जाएगा तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है तो पुरुषार्थ तो आवश्यक है ही मात्र प्रार्थना से नहीं होगा तो फिर प्रार्थना क्यों की जा रही है वो तीन उद्देश्यों से हो सकती है तीन तरह से प्रार्थना काम कर सकती है तो पहला ये कि हमारा जो कर्माशय है उसके अनुरूप हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा उसकी पूर्ति हमारे कर्माशय के अनुरूप करेगा तो इसमें कोई अन्याय पक्षपात नहीं कहलाएगा हमारे पुरुषार्थ के अनुरूप होगा वो और ये सब आत्माओं के लिए समान है दूसरा महर्षि दयानंद का प्रमाण है कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाती है और परमात्मा सहायता भी करता है हमारा कर्माशय हो या ना हो कर्माशय न होते हुए भी यदि हम पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं तो परमात्मा की सहायता हमें प्राप्त होगी इसमें शर्त केवल यही है कि हमारा पुरुषार्थ पूर्ण होना चाहिए कोई कमी ना रहे और उस पुरुषार्थ के बाद में जो प्रार्थना निकलेगी वो सच्ची प्रार्थना होगी हमें वास्तव में प्रतीत होगा कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता ये परमात्मा ही कर सकता है परमात्मा की सहायता से ही ये हो सकता है ये न्यूनता परमात्मा के द्वारा ही पूर्ण होने वाली है इस भाव से जब प्रार्थना होती है तो भी परमात्मा सहायता करता है और तीसरा जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं अच्छे कार्यों को करते हैं तो हमारी आवश्यकता के अनुरूप परमात्मा हमें आगे बढ़ाने के लिए सहायता करता है हमारा कर्माशय न हो हम पूर्ण पुरुषार्थ भी अभी नहीं कर पा रहे हैं तब अभी ये तीसरी वाली संभावना बनती है कि हम ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप श्रेष्ठ कार्यों को कर रहे हैं उस लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं तो परमात्मा चूंकि श्रेष्ठ लोगों का हितकारी होता है देवों का हितकारी होता है धर्म का सदा समर्थन करता है तो आंतरिक रूप से तो प्रेरणा उत्साह आदि उसके होते ही हैं उसके अलावा भी परमात्मा ऐसे व्यक्तियों की सहायता करेगा ही जैसे हम किसी व्यक्ति को जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो सहयोग करने को उद्यत हो जाते हैं उसने हमारा कोई उपकार ना किया हो तो भी हम उसके उपकार के लिए उद्यत हो जाते हैं उसने भले ही पूर्ण पुरुषार्थ न किया हो तो भी हम उसकी सहायता को उद्यत हो जाते हैं और ये सभी धार्मिक व्यक्तियों में सज्जनों में देखा जाता है तो परमात्मा धर्मात्माओं की सहायता क्यों नहीं करेगा जो उसके आदेश के अनुसार चल रहा है आदेश के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है पाना चाहता है यत्नशील है तो परमात्मा की सहायता मिलेगी और इसका संकेत इससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि अच्छे कार्यों में परमात्मा के द्वारा जो आनंद उत्साह निर्भयता मिलती है ये न तो हमारे कर्मों का फल है हमारे कर्माशय के कारण परमात्मा ये प्रेरणा दे रहा हो ऐसा नहीं लिखा महर्षि ने और न ही यहां पर पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की सहायता है ये तो बस जैसे ही हम अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते हैं परमात्मा की तरफ से आनंद उत्साह निर्भयता मिलते हैं क्योंकि महर्षि दयानंद ने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जो सहायता की बात लिखी है वो अलग लिखी है वो अपनी जगह सत्य है लेकिन जो भी धर्म के मार्ग पर चलेगा उसको सहायता मिलेगी तो इन तीनों में से जिस भी स्थिति में हम हों परमात्मा के द्वारा इन विभिन्न प्रकारों से हमें सहायता मिलती है उस प्रार्थना के माध्यम से सहायता मिलती है और इस बात को आर्य जानता है और वो प्रार्थना कर रहा है इस मंत्र में जो प्रार्थना की गई एक तो चक्षु की की गई चक्षु हमारी ज्ञानेन्द्रियों का प्रतीक यहां पर समझना चाहिए मुख्य इंद्रिय है तो हमारी जितनी भी ज्ञान ग्रहण करने की इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रियां हैं उन सब में न्यूनता हट जाए हमारे पास सूचनाओं का संग्रह जानकारी की विधि पूरी तरह सक्रिय रहे क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता सूचना के बिना कुछ नहीं हो सकता दूसरा वो सूचनाएं अंदर चली गई तो उन पे जो विश्लेषण होना है उन पे जो निर्णय लिए जाने हैं निश्चय किए जाने हैं उसके लिए हृदय और मन अंतःकरण बुद्धि और मन इनका चंचल रहित होना और क्षोभ से रहित होना विकलता से रहित होना भी आवश्यक है ज्ञानेन्द्रियां ठीक हों और सब सूचनाएं भी अंदर ठीक ठीक पहुंच गईं, लेकिन अंदर चंचलता है और अंदर व्याकुलता है अंदर व्यक्रता है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे तो यदि ये दोनों बातें हो गई सूचनाएं ठीक मिल गई और अंतःकरण ने ठीक विश्लेषण किया ठीक निर्णय कर लिया तो आगे और कुछ कर्म के लिए मांगने की आवश्यकता ही नहीं है वो व्यक्ति ठीक मार्ग पर ही चलेगा उसकी प्रगति होती ही जाएगी वो आगे बढ़ता ही जाएगा तो यहां मुख्य रूप से इन दो चीजों की प्रार्थना की गई जानेन्द्रियों की और अंतकरण हृदय और मन की अन्य भी जो हिंसक चीजें हैं जो हानिकारक चीजें हैं वो हमें प्राप्त ना हो हम अपने कर्माशय को इस रूप में फलीभूत होता हुआ चाह सकते हैं प्रार्थना कर सकते हैं कि मैंने जो भी पुण्य कर्म किए उससे मेरी ये चीजें ठीक हो जाए इनकी जो बची कुची न्यूनता है वो भी पूर्ण हो जाए जिससे मेरे को प्रगति का पूर्ण अवसर मिले और मैं आगे बढ़ जाऊं तो बृहस्पति परमात्मा से प्रार्थना की गई दूसरी पंक्ति में कहा शनो भवतु भुवन से यति यह भुवन से पति जो इन भुवनों का पति है स्वामी है जो हमारे धारक हैं जिनके आश्रय पर हमारा जीवन चल रहा है उन भुवनों का उन सब का जो स्वामी है पालक है रक्षक है वह यानी वह परमात्मा वह बृहस्पति शन भवतु हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए वो हमारे लिए कल्याणकारी रहे एक दृष्टि से तो परमात्मा सदा हमारा कल्याण करता ही है जो जितना श्रेष्ठ आचरण करता है उसके अनुरूप परमात्मा हमारी सहायता करता है दुष्टों का भी परमात्मा कल्याण करता है उनको दंड दे करके इसलिए परमात्मा तो सदा कल्याण रूप ही है पर आर्य परमात्मा के जिस कल्याण की कामना कर रहा है वो विशेष कल्याण है कि परमात्मा हमारा वो विशेष कल्याण करे आर्य इस बात को जानता है कि परमात्मा का कल्याण मुझे तभी प्राप्त होगा परमात्मा की कृपा मुझे तभी प्राप्त होगी जब मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप चलूंगा संसार में रहते हुए हम विभिन्न व्यक्तियों से कृपा की कल्याण की कामना करते हैं वो हमारे हितकारी हों उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर रहे वो अपनी जगह ठीक है लेकिन कितने स्थल ऐसे आते हैं जहां हम सांसारिक कृपालु व्यक्तियों की अपेक्षा करने के कारण से उनकी कृपा की इच्छा करने के कारण से परमात्मा की कृपा से वंचित हो जाते हैं हम परमात्मा की आज्ञाओं के विपरीत आचरण कर लेते हैं सामान्य रूप से धार्मिक व्यक्ति परमात्मा की कृपा भी चाहता है और अन्य व्यक्तियों की कृपा भी चाहता है और दोनों अपनी जगह ठीक हैं लेकिन जहां दोनों में विरोध आता है उस समय हम किसको कल्याणकारी समझें उस समय हम परमात्मा को ही कल्याणकारी समझें उसकी कृपा को ही चाहें जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को बनाया है वो सबका पालक है ये एक विशेष प्रार्थना की जा रही है कि परमात्मा ही मेरा कल्याणकारी हो मैं ये चाहता हूं कि परमात्मा की कृपा मुझ पर सदा बनी रहे आर्य की ये प्रार्थना है और परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे इसके पीछे और क्या भाव है वो जानता है कि परमात्मा की कृपा कब बनी रहेगी जब मैं उसके अनुरूप अनुकूल चलता रहूंगा तो कृपा की और कल्याण की कामना के पीछे मूल बात यह है अपने आप को वो इस तरह व्यवस्थित करना चाहता है आर्य कि मैं परमात्मा के अनुकूल चलता रहूं जब हम किसी लौकिक व्यक्ति को भी कहते हैं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपकी कृपा आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे इस बात को कहते हुए हम मात्र उसकी कृपा और आशीर्वाद को ही नहीं चाहते मात्र उसी की कामना नहीं कर रहे होते उसके साथ में हमारा भाव रहता है जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है जो सच्चे हृदय से आशीर्वाद चाहता है कृपा की कामना करता है तो उसके मन में साथ में ये भाव बना रहता है कि मैं ऐसा आचरण करता रहूं कि आपकी कृपा और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे ये जुड़ी भी बात है उससे और जब हम हृदय से दूसरे से ये प्रार्थना करते हैं तो उस समय अपने आप को दृढ़ कर रहे होते हैं दृढ़ संकल्पित कर रहे होते हैं कि मैं आपके अनुकूल बना रहा मैं ऐसा करूं कि आपकी अनुकूलता कृपा सदा बनी रहे वहां हम दूसरे पर बड़े व्यक्ति पर इस रूप में दोष रूप में नहीं कहते कि आपकी कृपा कभी नहीं भी होती है और आप कृपा बनाए रखना आप मेरे से द्वेष करके मेरे से मेरे ऊपर कृपा हटा मत देना हम उनमें दोष नहीं देख रहे होते हम तो उस कृपा को बनाए रखना चाहते हैं और ये कामना करते हुए हम अपने को प्रेरित कर रहे होते हैं कि मैं इनके अनुरूप चलता रहूं उस जीवन में जीते हुए विभिन्न घटनाओं में ऐसे बहुत प्रसंग आते ही रहते हैं जहां हम दूसरों की कृपा को चाहने लगते हैं और उस कृपा को चाहते हुए हम परमात्मा की कृपा की इच्छा को विस्मृत कर देते हैं हम लौकिक व्यक्ति की कृपा आशीर्वाद को तो चाहते हैं और फिर उसके अनुरूप ही आचरण करने लगते हैं लेकिन इस व्यवहार से परमात्मा की कृपा छूट जाएगी इसका ध्यान नहीं रहता वो भूल जाते हैं तो आर्य जो प्रार्थना कर रहा है यहां पर शनो भवतु भुवन से यशपति जो इस भुवन का पति है वो मेरे लिए सदा कल्याणकारक बना रहे अर्थात जब भी वो किसी से कृपा की कामना करेगा तो परमात्मा की कृपा को छोड़ करके उनकी कृपा नहीं चाहेगा परमात्मा की कृपा की कीमत पर उसको विस्मृत करके वो दूसरों की कृपा कभी नहीं चाहेगा केवल परमात्मा की कृपा चाहेगा वहां मतलब यह है कि परमात्मा की कृपा बनी रहे और उसके साथ साथ अन्यों की भी कृपा भले ही हो जाए महर्षि दयानंद ने जो नीचे वाक्य लिखे हैं वो केवल परमात्मा पर कृपा की कामना करने के लिखे हैं और आर्य को यही करना चाहिए महर्षि लिखते हैं परमात्मन आपके बिना हमारा कल्याण कारक कोई नहीं है अब प्रत्यक्ष तो हम देखते हैं अन्य लोग भी कल्याण कारक हैं लेकिन परमात्मा ही पूर्ण कल्याण कारक है ये जो त्रुटियां हैं दोष हैं न्यूनताएं हैं इसको परमात्मा के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता और इस रूप में मात्र परमात्मा ही हमारा कल्याण कारक है हमको आपका ही सब प्रकार का भरोसा है भरोसा रखते हुए ये कामना की जा रही है सो आप ही पूरा करेंगे ये विश्वास है ऊपर महर्षि लिखते हैं आप सब भुवनों के पति हैं इसलिए आपसे बारंबार प्रार्थना हम लोग करते हैं हमें बारंबार प्रार्थना करनी ही चाहिए क्योंकि यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो इन कामनाओं को छोड़ बैठेंगे हमें बार बार ये देखना है कि मेरे अंदर अभी ये कमी है और इसको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है यदि हम अपनी वर्तमान की बुद्धि और इंद्रियों से पूर्ण संतुष्ट हो गए और जैसा है वैसा चलते रहे तो लक्ष्य देरी से प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा हमें ये देखना ही है कि हमारे ये दोष हैं अभी न्यूनताएं हैं और ये बारंबार देखना है सब दिन देखना है इसलिए महर्षि लिखते हैं कि हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपा दृष्टि से आप कल्याणकारक हो और अपने इन दोषों को दूर करना उसकी प्रार्थना करना ये बहुत बड़ा कार्य है ये छोटा कार्य नहीं है महर्षि के शब्द क्या है क्योंकि आप बृहस्पति सबसे बड़े हो सो अपनी बढ़ाई की ओर देख करके इस बड़े काम को आप अवश्य करें ये बड़ा काम है ये सामान्य रोगों को दूर करना यह छोटी मोटी बात नहीं कही जा रही है बृहस्पति परमात्मा के अनुरूप ये बहुत बड़ा काम है इतना बड़ा काम है कि इन न्यूनताओं को और कोई दूर नहीं कर सकता निंद्राद्रिते पवते धाम किंचना वेद की एक और पंक्ति है ये ये जो धाम है हृदय है इसको पूर्ण शुद्ध परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता हमारे पुरुषार्थ के बाद में अंत में जो संस्कार दग्ध बीज होंगे पूर्ण निर्मलता की प्राप्ति होगी वो परमात्मा की सहायता से होगी परमात्मा को छोड़ करके ये सब नहीं हो सकते तो इस प्रकार का संदेश इस मंत्र में दिया गया बृहस्पति को ठीक समझ करके और हम क्या प्राप्त करेंगे हमारी प्रार्थना के अनुरूप हमारे ये दोष दूर होंगे और हम कैसे बनेंगे तो मंत्र का ऋषि है दध्यंग आथर्वण ऋषि दध्यंग आथर्वण धारण करने योग्य चीजों को वस्तुओं को जो प्राप्त करता है वो तथ्यंग है जिसने ये इस मंत्र को समझा है उसके अनुरूप प्रार्थना कर रहा है तो वो तथ्यंग बन जाएगा धारण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाला बनेगा और इसके विपरीत यदि इस प्रकार की प्रार्थना वो नहीं करता है तो तथ्यंग नहीं बन पाएगा कितना भी अपना पुरुषार्थ कर ले धारण करने वाली चीजों को इन इंद्रियों को पूरी तरह पूर्ण उच्चता से वो प्राप्त नहीं कर सकता उसकी बुद्धि उस प्रकार का काम नहीं करेगी जैसे कि इन प्रार्थनाओं के बाद में कर सकती है और वो अथर्वा भी हो जाएगा संशय रहित होगा चंचलता से रहित होगा निश्चय वाला हो जाएगा इधर उधर भटकेगा नहीं ठीक अपने रास्ते पे चलेगा तो जिस ऋषि ने इसका दर्शन किया था पहले साक्षात्कार किया था और उसका चिंतन मनन आचरण करते करते वो दध्यंग अथर्वण बन गया था ऐसे हर आत्मा बन सकता है हर आर्य बन सकता है मंत्र में जो भाव दिए गए हैं प्रार्थना के और महर्षि ने जिस ढंग से इस मंत्र को यहां पर रखा है उस प्रकार की भावना हम आर्यों की बनी रहे कुछ तीसरा विकल्प बिना प्रार्थना होता तो पहले वाले को प्रार्थना पूर्वक हो रही ठीक है हम धर्म का कार्य करेंगे तो परमात्मा सहयोग करेगा ही परमात्मा का सहयोग हमें प्राप्त होगा ही वो बात आपकी ठीक है फिर भी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी हमें प्राप्त होगा यानी ये परमात्मा इन सबकी पूर्ति करने वाला है सहयोग करने वाला है ये हमारे अंदर विश्वास अवश्य रहना चाहिए हम उसको लेके चल सकते हैं मंत्र के भाव को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण Oh.